జలగ బాగున్నాను నిజమే शाबान केतन शिविर आयोजित है विष्णु कृष्ण के बारे में शाबान केतन है ये जीवन मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है कृष्णा के बारे में शरण कीर्तन करना जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा जिससे हृदय शुद्धि होती है इससे इस शिविर आयोजित है certainly the Sarkar Karkatavya, which जैसे आयोजन करने सरकार तो सब भौतिक आवश्यकताओं प्रजाओं के लिए व्यवस्था करते हैं रोटी कपड़ा मकान पानी की व्यवस्था करते हैं तो यही सब अच्छा है लेकिन मनुष्यों के उत्तम प्रयोजन है कृष्ण भक्ति तो जिससे लोग कृष्ण भक्ति के बारे में शिक्षा मिल सकते हैं इससे सारा ऐसा आयोजन बड़े बड़े स्टेडियम है जिसमें क्रिकेट लीची को उगाने होते हैं सब फाउंटेन है ये सब बड़े बड़े शैली हम जो कई बार कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए इतना चाहिए हमारा प्रस्ताव आधुनिक संसार तो पूरा दिशाहीन है लोग तो कई बार पैसा कमाने के पीछे आध्यात्मिक दृष्टि तो कुछ नहीं है आप आपका पेपर में आप लिख दीजिए और काउ हमारा क्या कार्यक्रम है पब्लिक प्रोग्राम हाँ, उसके बारे में आप बताएंगे तो अगर किसी को प्रश्न हो पूछिए प्रसाद कितने दिन से अभी किधर किधर जाके आया है नहीं तो कल आया था और कौन से जिले में हमारा काम नवगंध जिले में देवी पूजे के पास हमारा चौथा सा ग्रामीण प्रकार के इसमें गुरु को ब्रह्महासन आया था और यहाँ हैदराबाद लगभग एक हफ्ता यहाँ रहा था और बाद में पुणे में हरिनाम आदि करता हूँ इसमें कृष्ण में लंदन में रहते हैं लंदन का इसमें कैसा है सर कैसे आया कृष्ण भक्ति तो देखिए शिल प्रभुपाद हमारे परमानंद गुरु थे उनका चेतन उनकी एक पुस्तक मिली जिसका नाम कृष्ण कृष्ण पुस्तक मिली कृष्ण लीला और कृष्ण धर्म सिद्धांत इंग्लिश में उसका वर्णन तो उसको पढ़ के इस कौन का मंदिर जो लंदन के पास है वहां गया था और ऐसे चर्चा समय किए था तो भक्तों के साथ ऐसे निर्णय किया था कि इस प्रकार में मेरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ और ऐसे जीवन Thank you. Okay. Say something. Tell us कल का प्रोग्राम कैसा कल का प्रोग्राम के बारे में कल शाम को छह बजे सबको हाँ, सबका स्वागत है तो आप नहीं रहे वो रिपोर्ट करने के लिए आप सब पक्षकार हैं तो वो आपकी वृद्धि है लेकिन अपना आध्यात्मिक उपकार के लिए उसके लिए भी आए आप भी इंसान है मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक विकास होना चाहिए हाँ రేపు నాలుగింటి నాలుగింటికి మన హరినామ సంకీర్తన నగర సంకీర్తన ఉంటుంది గడియానగరం హనుమాన్ టెంపుల్ నుంచి ప్రసన్న ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి టెంపుల్ వరకు తర్వాత అక్కడ ఆరింటికి ప్రవచనం ఉంటుంది టెంపుల్